रावण जग में तुम सायोद्धा तुम सान आन वाला कोए तुम नीत विशारद पंडित हो तुम शान ज्ञान वाला कोई इसलिए मृत्यु से पहले तुम कुछ नीत सिखाते जाओ हमें हे विज्ञानी अपना अनुभव कुछ तो बतलाते जाओ हमें मान बढ़ाते भक्त का किस प्रकार भगवान यही सोच उस होठ पर आई कुछ मुस्कान बोला अब इतनी शक्ति नहीं जो नीति शास्त्र का वर्णन हो हाँ इतनी सांसें बाकी है जिनसे कुछ आज्ञा पालन हो दो बातें केवल कहनी है शुभ कार्य शीघ्र करना अच्छा दुष्कर्म टले जितना टालो उसका सदैव टलना अच्छा मैंने सोचा था लंका में मैं क्षीर सागर ले आऊँगा यह भी सोचा था स्वर्ग तलक जाने का मार्ग बनाऊंगा पर आज आज करते करते मुझसे कर्तव्य रह गया वह मन ही में रही कामना वह रह गई अपूर्ण योजना वह पर नारी चोरी करने का कर डाला कार्य शीघ्रता से परिणाम उसे का यह पाया चढ़ दिया आज मैं दुनिया से अच्छा यह नीति समाप्त हुई कहनी अब एक हृदय की है तुम समझे हो हम जीते हैं पर नहीं जीत मेरी ही है अपने जीते जाने न दिया लंका में राम तुम्हारे को जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे को जा रहा तुम्हारे आगे ही देखो मैं धाम तुम्हारे को मुझसे पापी दुष्ट का मरना ही है ठीक खोले थे मुझ नीच ने बंधु बैर की लीग इस प्रकार कह कर बढ़ा आगे लंकानाथ भक्त विभीषण से मिला आतुरता के साथ प्रेम सिंधु में लय हुए अच्छे बुरे विचार खोए दो बंधुओं ने अपनी सभी विकार तभी अचानक राम के कर से निकला बाण अंतिम सर भी काट कर खींचे उसके प्राण सिर दसवां दस शेष का प्रभु पद गिरा तुरंत धड़ भाई पर ही रहा हुआ इस तरह अंत सुना विभीषण का तभी सबने हाहाकार वह भी धड़के संग गिरा सुदबुद सभी विसार अब चेत हुआ तो चिल्लाया मैंने ही घर को ढाया है हा भाई होकर भाई का रण में संहार कराया है वह बड़ा भ्रात था अनुचित क्या उसने जो लात लगाई थी पर मैंने इतने पर ही क्यों उससे शत्रुता बढ़ाई थी अपमान लात से समझा तो मुझ में सहिष्णुता रहे कहाँ शिष्टता गए नम्रता गए फिर भला साधुता रहे कहाँ संकुचित चित्त का होने से अनुचित यह हुआ मुझे से था भाई था बड़ा गुणों में भी लंका का मान उसी से था इतने में मंद मंदोदरी आये करते हाय गिरे लाश पर चीख कर हालंका के राय आंखें पसार कर दुखिया ने प्राणेश्वर के तन को देखा लोहू से लथपथ छिन्न भिन्न अपने जीवन धन को देखा चिल्लाई हाय सुहाग गया श्रृंगार गया साम्राज्य गया घर के राजा के साथ साथ घर की रानी का राज्य गया ईश्वर यह न्याय बदल दो तुम जो जग में बहुधा करते हो पति की पत्नी से प्रथम मार पत्नी को विधवा करते हो यम को अब ऐसी आज्ञा दो यह उल्टा नियम सुधर जाए पीछे से पति के प्राण जाए पहले अर्धांगनी मर जाए विधवाओं के चीखे आहे क्या तुम तक जाते नहीं प्रभो यह प्रलय काल की आवाजें क्या तुम्हें रुलाती नहीं प्रभु यदि न्याय यदि न्याय निधान कहाते हो तो करो न नारी को विधवा अन्यथा कहेगी अन्यायी तुमसे सुखकारों को विधवा घंटों तक रोते रहे दुखिया इसे प्रकार चूड़िया तोड़े हाथ के बिछुए दिए उतार उस टूटे दिल के का करुण शब्द कब कहने में आ सकते हैं उस विकल हृदय के पछतावे किस भात लिखे जा सकते हैं वह धारा बहे आंसुओं के रामादल भी आंसुमय था बन जाए न सागर एक और लंका के निकट यही भय था प्रभु ने मंदोदरी को दशा निहारी दीन उधर विभीषण भक्त को देखा दुखी मलिन रहन सके आगे बढ़े दिया बहुत उपदेश दबा भी होगी जनों में कुछ भी योग का क्लेश पाकर आदेश विभीषण ने साधन सब भले प्रकार किया श्री राम नाम उच्चारण कर सागर तट सब संस्कार किया ऐ दुनिया के जीवो देखो सब ही इस घाट उतरते हैं दुख है तो यह कुछ रोजों का क्या क्या न पाप हम करते हैं जाता है संसार से और न कोई संग आंखें हो तो देख लो दुनिया का यह रंग फानी जहाँ में रोज बना करती है सकले फानी जहाँ में रोज बना करती है सकले बनते हैं खुद ही मिटा कर ती है सकली पानी जहाँ मेरो बना करती है सकली बच्चे कभी जवान कभी भू भी बन गई कितने ही रंग में खुद को रंगा करती है शक्ले होता है रंग कोई कोई होता सहम सा दुखाय हे दिन रात दिया करती है चकली फानी जहाँ मेरो बना करते है सकली बनती है खुद ही मिटा करती है सकली सोने को पलंग चाहिए रहने को महल हो कुछ दिन के लिए क्या न किया करती है सकली फाली जहाँ मेरो बना करती है सकली अपने मका को देख के फूली न समाती औरों के घर को देख हंसा करती है सकली अपना ही अपना करके चले जाती है आखिर क्या थी क्या क्या थी कहाँ गई न कहा करती है सकली परदे में इसके कोई खिलाड़ी है राध श्याम बस ढोर पे उसी की फिरा करते हैं शक्ले बस डो पे उसी काम फिरा करते हैं शक्ले फानी जहाँ मेरो रोज बना करते हैं शकली फानी जहाँ मेरो बना करते हैं सकली बनते हैं खुद ही मिटा करते हैं सकली फानी जहाँ मेरो बना करती है सकली जब यह लीला हो चुके तब बोले रघुराज लखन विभीषण राज को राज तिलक धो आज जो आज्ञा कह कर चले अनुज भक्त के साथ बना दिया शुभ समय में उसको नाथ भक्त विभीषण के जबे सजा शीस पर ताज आपस में कहने लगा सारा यसुर समाज